वेहद्वाभ्याय यजुर्वेदश्चास्य द्वादशतमाध्यायस्य द्वादशो मंत्र उपनिषदे व्याख्याते च आज यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का बारहवा मंत्र पढ़ा जाएगा और उनकी व्याख्या की जाएगी प्रेमी सज्जनों माता आज आपके समक्ष यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का एक मंत्र लेकर उसके अभिप्राय को बताने का प्रयास करें यस्मिन सर्वाणी भूतानी आत्म भूत विजानत तत्र को मोह प्रशोक एक पश्यता स्वामी दयानंद सरस्वती जी को योगी माना गया वैदिक धर्मी उनको महान योगी मान कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि योगी कौन होते हैं कहता है जो बहुत मोटे तगड़े हैं लाल लाल दिखते हैं वो योगी होती और कई बार प्राय भ्रम होता ही है इतना अच्छा शरीर है उसका चेहरा लाल चमक रहा है और उसको देख करके लोग ये मानते हैं कि ये योगी है और दूसरी बात ऋषि ने लिखा है कि श्रद्धापूर्वक कुछ हाथ में लेकर के ब्रह्मविद्ता गुरु के पास में जाओ और ब्रह्म विद्या को सीखी आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होगा यदि किसी की जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा ही नहीं है तो क्या प्रश्न खड़ा होगा कुछ भी नहीं एक व्यक्ति से मैंने कहा ईश्वर की उपासना करते हैं या नहीं करते उन्होंने कहा हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है भोजन वस्त्र की कोई कमी नहीं रहने उठने की कोई कमी नहीं धन संपत्ति की कोई कमी नहीं हम क्यों परमात्मा की पास अगर परमात्मा की उपासना तो वो करे जिसको रोटी कपड़ा नहीं मिलता हो अब आजकल के लोगों ने तो ये मान रखा है कि रोटी कपड़ा मकान और धन मिलने के पीछे फिर कुछ करना धरना कुछ नहीं टका धर्म टका कर्म टका एवं धर्मम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टकाटक टका ये भोगवादियों की अंध परंपरा है उसने हमको प्रभावित किया इसका कभी निषेध नहीं किया ऋषियों ने कि धन मत कमाओ धनवान मत बनो कभी निषेध नहीं कर कभी भ्रांति से जो लोग ये कह देते हैं केवल लंगोटी बांध के रहने से बिना धन संपत्ति के क्या हो सकता है योग की बात करते हैं ऋषि कभी नहीं मानते कि आप धनवान मत बनो संपत्तिशाली मत बनो और ऋषि ये भी नहीं मानते कि भौतिक वैज्ञानिक मत बनो उन्होंने समन्वय किया चालीसवें अध्याय में प्रकृति और प्रकृति से बने संसार को उपयोग में लाओ काम लो तो जिस समय व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उभरती है और वो ये चाहता है कि मैं गुरु के पास जाऊंगा सीखूंगा भूख तड़प एक दिन एक बात मैंने कही जो व्यक्ति सर्व साधन संपन्न होकर के भी दुख का अनुभव नहीं करता वह योगी नहीं बन सकता नहीं आई बात सुनो फिर समझो फिर तो रहा क्या कहा मैंने जो व्यक्ति धन संपत्ति सर्व साधन संपन्न होकर भी दुख का अनुभव नहीं करता वह व्यक्ति योगी नहीं बन सकता अब बताओ क्या आते हैं नो करना चाहिए हाँ वो सुख है बिल्कुल ठीक बात इसको स्वर्ग बोलते हैं लौकिक बात पर वो पूरा दुख रहित सुख नहीं है केवल ये बात नहीं वो व्यक्ति जो इतने उत्कर्ष को प्राप्त करता है चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर लेता है तो भी उसको लौकिक दुख सताते हैं सूक्ष्म और वो व्यक्ति ये चाहता है मुझे कोई दुख न छुए वो ये चाहता है मुझे दुख न छुए बिल्कुल उसके लिए ये कहा जाता है उस व्यक्ति को लोक के सुख से भी वैराग्य हो जाता है नचिकेता की कथा सुनी सब कुछ वर्णन कर डाला और कहा कि तू सारी भूमि ये कहना चाहिए भाव चक्रवर्ती राजे ले ले छोड़ी आत्मा परमात्मा के प्रसंग को तो नचिकेता ने कहा नहीं मुझे तो वही बताओ आत्मा परमात्मा क्या हो तो जिस समय व्यक्ति के मन में ये बात आती है कि पूर्ण सुख चाहिए बिल्कुल दुख से छूटने की भावना उस समय व्यक्ति को विवेक हुआ उससे वैराग्य होगा और वो व्यक्ति उस गुरु की खोज में जाता है ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मवेदता वेद का जानने वाला सच्चा जो योगी हो उसके पास में जाओ उसको गुरु स्वीकार करो उससे ब्रह्म विद्या सीखो लोगों ने एक उल्टी धारणा मन में बैठाई और वो ये कि आर्य समाज जो है गुरु परंपरा को नहीं मानता बहुत प्रचलित बात है इसमें दोष तो जरूर आए क्या समझाया है गुरु जी के साथ जो श्रद्धा व्यवहार उचित करना चाहिए वो बहुत कम लोग करते हैं बहुत कमी तो निश्चित है सिद्धांत और विशिष्ट बुद्धिमान व्यक्ति ये दोनों स्वीकार करते हैं और ऋषि ने लिखा भी गुरु परंपरा बिल्कुल मानता है ये समाज ये अलग बात है ऋषि ने माना बुद्धिमान आज भी मानते हैं जो लोग इसको नहीं समझते वो इस गुरु परंपरा को नहीं मानते आपने सुना होगा इन माताओं का मुझे पता नहीं बहुत सी माताएं जो है गुरु बनाती हैं और बड़ा झंझट खड़ा होता है और फिर वो लोग कहते हैं देखिए जी आर्य समाज में तो गुरु बनाने की परंपरा है नहीं क्यों जी सुनती है या नहीं सुनती बोलो ऐसे कहते हैं ना दूसरे मत वाले झट वो कहते हैं आर्य समाज में तो गुरु परंपरा है नहीं हम तो गुरु बनाते हैं और एक और भी खड़ी होती है जब पत्नियों को माताओं को भी गुरु बनाना चाहिए क्या आप बोलो आपका उत्तर दो इसका अब देखो कोई निर्णय तो किया नहीं होगा कैसे उत्तर देंगे व्यायाम व्यायाम करवाया जाता बुद्धि का यहां पर देखो गुरु ईश्वर भी है वो तो गुरुओं का गुरु और जो व्यक्ति हमको कोई विद्या देता है वो गुरु होता है वो गुरु सच्चा होना चाहिए नकली और जो गुरुडम नाम से बोला जाता है वो झूठी गुरु परंपरा को हम नहीं मानते और ऐसे गुरु कभी नहीं बनाए सीधी सी बात जो वेद के अनुरूप विष्णु के अनुरूप ब्रह्म विद्या को जानता है सत्यवादी सत्यवादी सत्यकारी है वो सभी का रूप बन सकता है अब इतनी बात का पता चलने के पश्चात व्यक्ति ये देखता है मैं गुरु किसको बनाऊं आपके लिए आती है मनोमा कभी अब कई लोग यहां आते हैं वो सुनते हैं और कहते स्वामी जी मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगा एक माता जी कहने लगी स्वामी जी मैं आपको गुरु बनाऊ मैंने कहा माता जी देखो हम ऐसे किसी को शिष्य नहीं बनाते जो आए सो शिष्य और उसका गुरु बन जाना हम हमें ऐसे अब कितने लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम आपसे संन्यास की दीक्षा आपका शिष्य द्वारकातियों का ये मैंने कहा मैं ऐसे किसी को संन्यास नहीं देता तो क्यों मैंने कहा देखो आप जब तक इतनी अच्छी सिद्ध नहीं हो लेती आप शिष्या बन सकती हैं तब तक उसको शिष्या बनाना निराधार ये तो ऐसी बातें हैं गुरु कहने से बन जाता है और वो बना दिया जाता है ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है आयुर्वेद के आचार्य ने एक बात कही कि आचार्य को लंबे काल तक जान के समझ के योग्य ये दूसरे ढंग से उसकी परीक्षा करें वे योग्यता इस आचार्य की परीक्षा इस रूप में नहीं इसके दोषों को देखना है ये मेरा आचार्य मुझे वो विद्या दे सकता है या नहीं तो गुरु और शिष्य के विषय में ये परंपरा है कि लंबे काल तक दोनों दोनों का अध्ययन करते हैं और लंबे काल तक दोनों पढ़ते हैं एक दूसरे के जीवन को और जब दोनों का आत्मा बिल्कुल ठीक स्वस्थ विशुद्ध हो जाता है दूसरा दूसरे को बाहर भीतर से जान लेता है उस समय गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए यदि ऐसा हो तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और ऐसा होना चाहिए देखो एक और बात बताता हूं क्या परमात्मा को भी गुरु बनाया जा सकता है नहीं अच्छा को बनाया भी जा सकता है या नहीं है होना और चीज और बनाना और चीज तो होती दोनों अंतर ना गुरु स्थानीय तो है गुरु बन सकता है हम बना भी सकते हैं यानी ये बात जानने की है वहां पर बनाना समझने हाँ हाँ दोनों मंत्र गुरु तो है और बन सकता है आज आपने गुरु बनाया क्या परमात्मा को है गुरु ऐसे गुरु थोड़ा ही बन गया वो है आप शीशे नहीं है तो गुरु का बना देखिए बात जब तक दोनों गुरु तो जब मैंने शिष्य हो और शिष्य जब मैंने गुरु गुरु हो अब गुरु है तो शिष्य है नहीं तो गुरु शिष्य कहां हो ये मतलब इतना रहते हुए भी ये कमी आप देखेंगे ईश्वर तो गुरु है ही पर आपने उसको बनाया तो नहीं स्वयं पात्र बन के उसको गुरु बन, बना के उससे विद्या नहीं पढ़ते आप अब ये कहने लगे ईश्वर से ही विद्या पढ़ी जाती है स्लेट बत्ती और ये ब्लैक बोर्ड और ये ये ये कैसे पढ़ाएगा विद्या ये भी धंधे खिड़ा होता है फिर विद्या कैसे पढ़ेंगे परमात्मा से मैं तो बोलता हूं आप सुनते हो गुरु जी बोलते हैं मंत्र बोलते हैं व्याख्या करते हैं वो बोलता नहीं दिखता वो ऐसे आकार प्रकार नहीं दिखता अब कैसे देता है वो विद्या वेद के भी तो मंत्र हैं वो भी तो बोलने पड़ेंगे हाँ अब यूं तो ये गुरु जी प्रेरणा देते रहे विद्यालयों में इसमें विद्वान बनने बन जाएंगे वो प्रेरणा देते रहे और वो बन जाए विद्वान वो भी काम नहीं चलता अब देखो ये समस्या उस शंका उभरेगी है आप ध्यान देना वाणी की आकृति की लिखने पर लिखने पढ़ने की अक्सर लिखने की ये ईश्वर को अपेक्षा नहीं है आपको पहले एक बात याद दिलाऊं नहीं याद है जो पहले थे याद नए की बात नहीं मैंने क्या बतलाया था याद है गुरुदारियों ने सोचा होगा हमसे तो पूछते ही नहीं कभी <laughs> याद नहीं चाहिए पता नहीं क्या है कि पूछा जा सकता है यहां तक तैयार हो गया ना बुढ़ा बुढ़िया होते जवान हो मैंने एक बात बताई थी जब व्यक्ति अति हो जाता है बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर बल नहीं रहता तो बल देने के लिए क्या करते हैं वो क्या वो चम्मच से खिलाते हैं या बर्फी खिलाते हैं या अंगूर खिलाते हैं क्या करते हैं बताओ ये क्रियाएं होती या नहीं होती नहीं होती उसमें बल दे देते हैं कैसे देते हैं ग्लूकोज देते जिसे ग्लूकोज देते परमात्मा से ज्ञान दे देता उसको कोई बारी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं आई बात सर है प्रेरणा नहीं प्रेरणा मात्र नहीं प्रेरणा तो देता ही है जैसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना तो शक्ति आ जाती है ग्लूकोज की तरह हमारे अंदर ज्ञान चढ़ा देते परमात्मा दूसरा दृष्टांत ले लो लोहे का गोला अग्नि में डाल दो ध्यान देना लोहे को गोले का अग्नि में डालो क्या होगा अग्नि का गुण उष्णता अग्नि का गुण प्रकाश लोहे के गोले उसकी उपासना की किसकी अग्नि की और अग्नि की उपासना करने से लोहे के गोले में प्रकाश और ताप शक्ति उसने क्या वाणी बोली थी कि मेरी वो ताप शक्ति जाए गोले में और प्रकाश जाए बोले ना कुछ वाणी बोली थी पाठ पढ़ाया था क्या नहीं समझे <laughs> अग्नि ने कुछ पाठ पढ़ाया था क्या तो एक गोले को और उसमें प्रकाश चला गया हो और उसमें गर्मी नहीं पढ़ाया ना उस सानिध्य से जैसे लोहे के गोले में अग्नि के नैमित्तिक गुण सानिध्य से आते हैं ऐसे परमात्मा के गुण जीवात्मा में आते हैं आनंद और ज्ञान इसे कोई कठिनाई नहीं होती तो ईश्वर भी गुरु है और ईश्वर से जो विद्या पढ़ पढ़ करके ऋषि लोग हमारे सामने आते हैं वो भी गुरु है अब एक जानने की बात प्रसंग को याद रखना गुरु बनाने की बात वही है वहीं पहुंचेंगे आप जो छेड़ी थी गुरु बनाने की दो बातें याद रखो पूर्व जन्मों से एक व्यक्ति बड़े अच्छे संस्कार लेके आता है जन्म जन्मांतर की उसकी साधना अच्छी होती है ध्यान देना उस व्यक्ति योग्यता इतनी होती है वो सीधा ईश्वर को गुरु बना लेता है अब याद करो मैंने क्या कहा भाई याद करवाए बिना तुम्हें बोलता चले जाऊं तो बात ही नहीं बनेगी माताओं समझ में आया कुछ नहीं आया क्या होगा एक तो आया पांच बैठे दस बैठे तो क्या आया आधे आधे भी नहीं हो रहे से सुनो सीधा ईश्वर को गुरु बनाना एक प्रक्रिया और गुरु के माध्यम से ईश्वर को गुरु बनाना दूसरी प्रक्रिया अब तो कुछ आया समझ में भाई अभी भी नहीं आया है <laughs> वो बाजीगर तमाशा दिखाते हैं कई बार देखिए ना भाई ऐसा कूदते हैं कैसे शरीर को छालते हैं और कहता ओ कमी रह गई है फिर और कहता नहीं अभी पूर्ति नहीं हुई फिर और भी चित्र दिखाते अभी कमी रह गई है सीधा ईश्वर को गुरु बनाना और ईश्वर को जानने वाले गुरु के माध्यम से ईश्वर को गुरु बनाना अब तो आ गया जो है अब इसकी और आगे संगति लगाओ जिस व्यक्ति की इतनी योग्यता बनी है जन जन्मांतरों से वो सीधा ईश्वर को गुरु बना के ज्ञान ले लेता है सीधा कल्पना करते हैं उसको कोई विद्या सिखाने वाला गुरु नहीं मिला शरीरधारी ध्यान देना उसकी योग्यता इतनी होती है कि वो परमात्मा से सीधा संबद्ध हो जाता है ईश्वर परिधान और ईश्वर को गुरु बना लेता है परंतु समझना ये शक्ति ये योग्यता प्राय साधारण रूप से नहीं होती अब दूसरी प्रक्रिया बच गई वो बच गई ये साधारणतया व्यक्ति को शरीरधारी ब्रह्म व्यक्ता को गुरु बनाना पड़ता और शरीरधारी व्यक्ता गुरु को मान के जान के समझ के उसके पीछे परमात्मा को गुरु बना पाता है कुछ समझ में आई बात थोड़ी सी आई है अब गुरु तो पता नहीं कितने होते हैं माता गुरु पिता गुरु अध्यापक गुरु खगोल भूगोल को पढ़ाने वाला गुरु इस खेती के विज्ञान को बता गुरु तो जो विद्या के वही गुरु कोई छोटा कोई बड़ा अब तो आगे ना बात चल गुरु की ये सीमा नहीं है हाँ ये बात है कि ये भौतिक विज्ञान गणित भूगोल खगोल ये सामान्य ज्ञान के गुरु होते हैं ये भी गुरु ही होते हैं गुरु क्यों नहीं होते परंतु ब्रह्म वेदता जो गुरु होता है उसकी जो विशेषता होती है वो इन गुरुओं में नहीं होती इतना अंतर अब एक प्रक्रिया समझ में आई आपको इतनी योग्यता रखने वाला सीधा ईश्वर को गुरु बनाने में समर्थ है वो कोई एक आध व्यक्ति बहुत बिरला दूसरे स्तर के दूसरे होते हैं जो ब्रह्मवेत्ता को जान के मान के उसकी बात को सुन के फिर परमात्मा को गुरु बनाते हैं दो का कल्याण तो निश्चित हो गया है क्या हुआ दो का कल्याण अथा अच्छा, ये दोनों व्यक्ति इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकने में तीसरा व्यक्ति इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता ध्यान दो दोहराओ तो क्या कहा हमें या तो सीधा ईश्वर को गुरु बनाने वाला वो कोई विचित्र का व्यक्ति आता दूसरा स्तर जो है उन लोगों का है वो सीधा ईश्वर को गुरु नहीं बना सकते क्षमता सामर्थ्य इतना नहीं है ब्रह्मवेत्ता गुरु को मान के जान के वो परमात्मा को फिर गुरु बनाने में समर्थ होते वो भी मोक्ष के भागी इसी जन्म में बन जाए इसी जन्म का मतलब एक दिन समझना एक जन्म में बन जाता है कभी इसी जन्म का अर्थ कोई लेके एक जन्म में अच्छा ये बताओ मुनि एक जन्म में मुक्ति को प्राप्त करता है दो या तीन या छह पता नहीं मनुष्य नहीं भी करेगा ना एक प्रश्न आया संचार का या व्यक्ति एक जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है या अनेक में तो उत्तर क्या दिया अनेक में बस बात है अनेक में करता है और भूल ये मत कर देना इसके साथ साथ मुझे समय बता देना जब हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूं ना कितना बोलूं बोलता ही जाऊं और फिर क्या बात छेड़ी थी एक बात इस बात को सुन के भूल मत कर देना कौन सी भूल भाई साधना करो ईश्वर तक पहुंचो साक्षात्कार करो वो साधक कहता है एक जन्म मुक्ति थोड़ी होती वो कहता एक जन्म में मुक्ति थोड़ी होती हम दूसरे को टोका भाई तू किया कर कहता जी देखो एक जन्म में मुक्ति नहीं होती अब किसी को कहते चले जाओ वो कहते एक जन्म में मुक्ति नहीं होती भले व्यक्ति तेरा या एक ही जन्म है क्या उसके दिमाग में यह है कि मेरा एक जन्म है पहले कोई जन्म नहीं था अब क्या पता चला आपका एक जन्म या अनेक है एक भी हो सकता है और सकता है अब क्या मतलब नहीं नहीं एक और अनेक खांजे गिनेंगे आप एक और अनेक को खांजे गणना करके लाएंगे ये बताओ बहुत पेड़ बुद्धि बताई थी ना मैंने वो याद है हाँ वो आया संकेत तो वो तेल बुद्धि और काष्ट बुद्धि और रबड़ बुद्धि अब तेल बुद्धि वाला तो वहां पहुंच जाएगा कि अनेक का एक साथ खाने लिए माताओं क्या मंदिर की मूर्ति की तरह बैठी है उत्तर भी दे रही उत्तर दिया करो ना ना ये बात नहीं कह रही प्रसंग नहीं है ना इसका गहराई को समझो सीधे नहीं उड़ाना बात को मैं तो इसलिए आपको सोए नहीं नींद नहीं आए और सुनते भी रहे ये तो पाठ पढ़ाना है आप हंसी उठाने लगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बस क्या कह रहे आप हमें एक जन्म और अनेक कांसे आरंभ होते हैं ये तो पता लगाओ देखो गधा घोड़ा सूर बकरी भेड़ कीट पतंग मछली खूब दुख भोग के आया पर आधे आधे पाप पुण्य उसके बराबर आए तो उसने अभी जन्म लिया ये क्या हो गया एक जन्म हुआ नहीं है यहां से एक जन्म और उसने फिर मेहनत की आर्य समाज में आया आर्यवन विकास में योगाभ्यास के लिए बातें सुनी और फिर अच्छा जब बूढ़ा हुआ तो मर गया तो फिर अच्छे माता पिता के घर गया जो आर्य समाजी थे और आखिर से फिर वेद पढ़ने लगा फिर योगाभ्यास करने लगा ये कौन सा जन्म हो गया अनेक हो गया सब आ गया ना जब अनेक हो गया अनेक मतलब मनुष्य जन्म से कहना करने लगे मनुष्य जन्म एक है अनेक और मुक्ति से आया एक जीवात्मा उसमें पहले मनुष्य शरीर धारण किया वो एक है या अनेक एक है उसने फिर मैंने की परिश्रम किया दूसरे अच्छे माता पिता के वैदिक धर्मी के घर जन्म हो गया और दोबारा घर साधना वो क्या हुआ अनेक इसलिए एक जन्म मुक्ति नहीं होती अनेक पर आप ये भूल मत कर देना अनेक जन्म ले चुके पहले जन्म में भी यही कहते थे देखो जी मुक्ति तो अनेक जन्म में होती है इसमें आया तो इसमें भी यही कहने लगे मुक्ति अनेक जन्म में होती है इसमें थोड़ी हो सकती है तीसरा जन्म लिया तो मुक्ति तो अनेक जन्म में होती है यही कहता रहा साठ जन्म ले लिए इसने कुछ नहीं अब एक बात छेड़ी थी कि भाई योगी किसको माने जिसको गुरु बनाया जाए बात तो ये थी <laughs> योगी किसको माने कहते हैं जो युष्मिन सर्वाणी भूतानी युष्मिन जिसको पा लेने के पश्चात जिसको जान लेने के पश्चात सर्वाणी भूतानी मनुष्य पशु पक्षी आदि इनको आत्मा के तुल्य देखता है अपनी हानि साहब मान अपमान सब कुछ उसके तुल्य वो देखता है तत्र कर्म होकर कैसो होकर एक तुम तो पश्यता शरीर से गामा जैसा शरीर हो तो यह आवश्यक नहीं स्वामी प्रजानंद जी योगी हो सकते हैं <laughs> नहीं समझे आप शरीर का इतना लंबा चौड़ा बलवान होना योगी का लक्षण नहीं है शरीर अच्छा होना चाहिए यानी कि पतला दुबला हो उसके लिए वाद नहीं है वाद इस बात के ऊपर है क्या इतना मोटा तगड़ा और इतना व्यक्ति वही योगी होता है क्या ये लक्षण नहीं है योगी का तत्र प्रमोह कर शोक जहां मोह शोक नहीं होते वो योगी होता आ गया समझ में जी तत्र प्रमोह कर शोक मोह अज्ञान मोह प्यार का नाम नहीं है अज्ञान का शोक है राग द्वेष काम क्रोध क्लेश जहां जब नीति से समझ लेना वह योगी है बाहर से जब मोटे दुखों से छूट जाता है व्यक्ति उसको आगे चलकर मानसिक क्लेश सताते हैं कोई कोई क्लेश मानसिक सताता वो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म तम रूप से सताता है सूक्ष्म तम रूप में व्यक्ति को क्लेश नहीं सताते आंतरिक है याद रखना इससे स्वयं व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि मेरी योग की स्थिति बनी आ है और उस व्यक्ति के व्यवहार से आप भी अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति योगी है या नहीं घटनास्थलों को देखो हानि हो गई अपमान हो गया ये हो गया वो रोगी हो गया उन सभी घटनाओं को देखते जाइए और उसके मानसिक स्तर को ढूंढिए वहां क्लेश को पीसते हो काम करो राजदेश पीसते हो जो कितना ही विद्वान क्यों न हो ये अलग बात है यदि मोह शोक पीसते हैं व्यक्ति को और वैसे तो ये तो मैंने विशेष घटना सुनाई साधारण रूप में व्यक्ति को राग द्वेश काम क्रोध तो पीसते रहते किसी को नहीं छोड़ते आपको भी पीस रहे होंगे अब बैठे बैठे सबको पीस रहे क्रम वो है का शोक है जहां मोह शोक नहीं रहती समझ लो वो कौन है वो योगी है और ऐसे व्यक्ति को गुरु जान मान के उनसे ये विद्या सीखनी चाहिए अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है ओ योगी बड़ा होना चाहिए उम्र में उम्र की छोटे बड़े की कोई सुनो सुनो बीच में मत बोलो बोलने का कोई लाभ नहीं होता ना वो नहीं सुनेंगे मैं नहीं सुनूंगा एक और धीरे खड़ा हो जाएगा अपने आपको संयम में रखा करो जब पूछे तो बोलो छोटे बड़े का तो उम्र से लेते हैं एक आदमी पचास साल का है और गुरु या पच्चीस साल का है हाँ तो उसको गुरु करना चाहिए बिल्कुल गुरु अवश्य करना चाहिए गुरु पच्चीस वर्ष का और वो प, वो पचासी वर्ष का बूढ़ा उसको गुरु बना लेना चाहिए पच्चीस वर्ष वाले ये मनुस्मृति में लिखा है मनुस्मृति में लिखा है और प्रत्येक विज्ञान का विद्यार्थी वो 25 वर्ष का सारा विज्ञान पढ़ गया दर्शन पढ़ गया वो पढ़ गया अस्सी वर्ष के बूढ़े ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा उसको गुरु बनाएगा नहीं बनाएगा की बात हो रही है हाँ तो इसलिए कोई भी गुरु हो अर्थात गुरु 25 वर्ष का हो चाहे बीस वर्ष का भी क्यों ना हो और सीखने वाला बुद्धा कितना ही बड़ा हो उसमें कोई उम्र की बात ही नहीं है ये तो केवल योग्यता की बात है सीखने वाले की योग्यता और सिखाने वाले की योग्यता से गुरु बनता है उम्र के आधार पर कोई किसी का गुरु नहीं बनता सृक्तकृद्विद्या सर्वम् सृक्तम् सुहृतम् करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृत्